सच में नैना सच में ऐसा होता है और अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो यार मुझे भी अपने साथ रख लो मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा हम्म, और तुम जानते हो विक्रांत नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ये पैसा गवर्नमेंट अपने खाते से थोड़ी ना देती है मतलब विक्रांत सोच में पड़ गया फिर फिर कहाँ से आता है इतना पैसा अब हम जब कोई मुजरिम पकड़ते हैं तो फिर उसका पैसा कहाँ जाता है जैसे मान लो कि हमने मंजू मैडम के कातिल को पकड़ लिया और फिर मान लो उसके घर वगैरह की कुछ नीलामी वगैरह हुई तो उसका पैसा कहाँ जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है और कहाँ जाएगा विक्रांत ने सीधा जवाब दिया अरे वो तो बाहर वालों के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है और जाता भी है गवर्नमेंट के खाते में लेकिन फिर भी पूरा पैसा थोड़ा नहीं जा पाता है कुछ हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर के खाते में भी तो आता है और केस सॉल्व करने के बाद जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलता है वो अलग सच में ऐसा भी होता है क्या नैना मुझे मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात अच्छा अगर अगर ऐसा है तो तुम तो मेरा ध्यान जरूर रखना अपने साथ साथ मेरा भी भला करते रहना और और मुझे कोई बी का शौक नहीं बस ऐसे ही एक दो पजेरो भी मिल जाए तो तो भी बहुत है और घर घर तो मुझे टू बी एच के ही चाहिए ज्यादा बड़ा नहीं बस छोटा सा ही उधर बांद्रा या जुहू साइड मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता विक्रांत ने पहले भी पनवेल ब्रांच के कुछ लोगों से सुना था कि नैना बहुत पावरफुल है उसके पास किसका सपोर्ट है ये तो नहीं पता था लेकिन इतना पता था कि उसने एक बार किसी सीनियर ऑफिसर का भी ट्रांसफर करवा दिया था इसलिए वो नैना की बातों पर आसानी से यकीन कर रहा था हम्म, लेकिन तुम तो काम ही नहीं करना चाहते तुम्हें ये सब फ्री लग रहा है चलो कोई बात नहीं रहने दो नैना ने विक्रांत की तरफ हल्के मुस्कान भरे चेहरे के साथ कहा अरे नहीं नहीं क्या बात कर रही हो विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा तुम तुम चिंता मत करो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बस थोड़ा टाइम दो सारी डिटेल निकाल लाऊंगा लेकिन तुम तो मेरा भी थोड़ा ध्यान रखना ठीक है सीनियर ऑफिसर तक मेरा नाम भी पहुंचा देना हाँ ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा काम देखने के बाद ही ऐसा कर सकती हूँ नैना ने अपने बालों को हाथ फेरते हुए कहा इसके बाद उसने विक्रांत के बैग में हाथ डालकर उसे बिना पूछे ही बर्गर निकाल लिया और फिर बर्गर खाते हुए बोली अच्छा ये बताओ वो किडनैपिंग केस का क्या हुआ मैंने सुना था कि तुम आज फिर से कर्जत गए थे अब तक विक्रांत और नैना ने अपना बर्गर खाकर खत्म कर दिया था विक्रांत ने बैग से कोल्ड ड्रिंक निकालकर नैना को पकड़ा दिया चूंकि नैना भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही थी और अब वो विक्रांत की ब्रांच की ओर आ चुकी थी इसलिए अब उसको केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देना कुछ गलत नहीं था इसलिए विक्रांत ने नैना को सब कुछ सही सही बता दिया सारी बातें सुनने के बाद नैना ने थोड़ी हल्की सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहा मुझे नहीं पता था कि टीम हेड पुष्कर तुमसे इतना ज्यादा चिढ़ता है आज उसने फिर से ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर से तुम्हारी कंप्लेंट की है उसने सर से कहा है कि तुम अपने सीनियर ऑफिसर की बात नहीं मानते जो टास्क दिया जाता है वो करने के बजाय अपने मन का काम करते हो अच्छा आज फिर गया था वो सर के पास विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा इसका कुछ तो हिसाब करना पड़ेगा नैना तुम कोई केस वगैरह बनाकर इस इस साले को अंदर करवा देती विक्रांत नैना ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो और पहले तुम खुद के अंदर सुधार लाओ पुष्कर की जगह पर अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती जब तुम सीनियर की बात नहीं मानोगे तो यही होगा ना और अगर मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाती और तुम वहां ना होते तो फिर क्या होता फिर तुम और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हाँ वो तो ठीक है विक्रांत ने नैना की बात से हामी भरते हुए कहा ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात नहीं मानना चाहता मैं उनकी बात मानना चाहता हूँ लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते मैं जो कहता हूँ वो मानते ही नहीं सिर्फ अपनी अपनी कहते रहते हैं फिर वही बात नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है जो तुम कर रहे थे वो सही ही था हो सकता है कि तुम्हारा ओपिनियन ही गलत हो फिर फिर कैसे मानेगा कोई तुम्हारी बात मेरा ओपिनियन सही था बिल्कुल सही था और तुम ही बताओ आज चेतन कह रहा था कि हमें गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स की जांच करनी चाहिए ये कहाँ तक सही है जबकि वो बच्चे पहले ही मर चुके हैं देखो विक्रांत इस तरह के केस काफी डिफिकल्ट होते हैं अब भले ही तुम आज मुजरिम को पकड़ लेते हो तुम मर्डर को भी पकड़ लेते हो तो फिर तुम ये कैसे प्रूफ करोगे कि वही आदमी मुजरिम है इसका प्रूफ कौन देगा उस केस से रिलेटेड कोई अब तक जिंदा भी तो नहीं है नहीं विक्रांत ने नैना के बीच में ही करेक्ट करते हुए कहा एक है एक बच्चा अभी भी जिंदा है नितिन खरबंदा अभी भी जिंदा है हो सकता है अभी भी जिंदा हो सकता है उसके मरने का अभी कोई सबूत नहीं मिला है और पूरा चांस है कि वो अभी जिंदा है उसके गाल में दाएं तरफ एक बड़ा सा तिल है और आंखें थोड़ी भूरी हैं हम्म, लेकिन फिर भी इस बच्चे को जिंदा होने के चांसेस बहुत कम तो है तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो जिंदा होता तो अब तक सामने आ चुका होता उसे बच्चा मत कहो अगर वो जिंदा है तो अब तक तीस साल से भी ज्यादा उम्र का है हम दोनों से बड़ा अच्छा वैसे एक बात तो है ये केस बहुत ही पेचीदा है बहुत मुश्किल है अच्छा ये काम करते हैं नैना ने कुछ सोचने के बाद कहा मैं मैं कल खुद ही पुष्कर से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि तुम मेरे साथ इस केस पर काम करोगे और फिर हम दोनों साथ में नितिन खरबंदा को ढूंढने चलेंगे क्या कहते हो ठीक रहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कल ही बात करना विक्रांत ने चहकते तो हुए कहा उसका चेहरा खुशी से खिल उठा उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि नैना उसके इतने करीब आ सकती है रात हो चुकी थी नैना इस वक्त अपनी व्हाइट पजेरों में फराटे भरते हुए कहीं जा रही थी स्ट्रीट लाइट की चमक बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी नैना कुछ सोचते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी अभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा हेलो नैना ने कान में लगा ब्लूटूथ ऑन करते हुए कहा कैसे हैं बेटा कहाँ है अभी वहाँ नए ऑफिस में सब ठीक है ना फोन पर दूसरी तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी मैं ठीक हूँ माँ और अब फिर से जॉब के बारे में पूछना शुरू मत कर देना दिमाग खराब हो रखा है मेरा कैप्टन ने मुझे एक बकवास से केस पर काम करने के लिए लगा दिया है मुझे पुलिस ऑफिसर मंजू सचदेवा के मर्डर केस पर काम करने पर लगा दिया है इतना काम करना पड़ रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ ऊपर से एक इडियट और मिल गया है शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं उसकी कौन इडियट और जब शक्ल नहीं देखना चाहती तो फिर क्यों देख रही हो मैं क्या बताऊं मॉम छोड़ो उसे मैं बताऊंगी तब भी तुम कुछ समझ नहीं पाओगी हाँ हाँ मैं कहाँ से समझूंगी वैसे ऐसा कौन सा लड़का पैदा हो गया है जिसे तुम पसंद भी नहीं करती और फिर भी वो तुम्हारे आसपास फटक रहा है माँ मजाक मत करो अभी नैना ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा अचानक से नैना हंसने लगी क्या हुआ तुझे अचानक से हंस क्यों रही है नैना की माँ ने सवाल किया कुछ नहीं माँ पता है आपको मैंने मैंने उसे आज सही सबक सिखा दिया है मैंने उस इडियट को बताया कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही हूँ और ये बहुत डेंजरस मिशन है और वो <laughs> वो इतना इडियट है कि मेरी सारी बातें सच मानकर बैठ गया और पता है वो मुझसे क्या कह रहा था तुम जो कहोगी मैं करूंगा बस बस मेरा प्रमोशन करवा देना <laughs> इस वक्त विक्रांत अपने मकान मालिक की फल की दुकान पर बैठा हुआ था गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में लिए हुए फ्रूट जूस की बोतल को मसल डाला ओ इतना बड़ा धोखा इतनी कमीनी है ये इसे तो अब मैं सबक सिखाऊंगा